Osho Sarvasar Upanishad talks on Sarvasar Upanishad given at meditation camp Matheran India discourse number three क्या है मोक्ष क्या है ऐसे प्रश्नों के उत्तर अब शुरू होते हैं जीवन को अस्तित्व को पहचानने की खोजने की अन्वेषण की दो विधियां हैं दो संभावनाएं एक विधि है विश्लेषण एनालिसिस और दूसरी विधि है संश्लेषण सिंथेसिस एक मार्ग विज्ञान का है एक धर्म का विज्ञान चीजों को तोड़ता है उनकी अंतिम इकाई तक आणविक इकाई तक एटॉमिक यूनिट तक और उस तोड़ने से ही विज्ञान ज्ञान को संग्रहित करता है विज्ञान चीजों को उनके अंतिम टुकड़ों में विभाजित करता है उस विभाजन से ही विज्ञान के ज्ञान का जन्म होता है धर्म की प्रक्रिया ठीक उल्टी है धर्म जोड़ता है प्रत्येक इकाई को अंतिम विराट से टुकड़ों को उसकी परिपूर्णता में खंड को अखंड के साथ और जब सभी कुछ संयुक्त हो जाता है तभी धर्म ज्ञान को उपलब्ध होता है ऐसा समझे एक फूल है तो सकते हैं उसे वैज्ञानिक तोड़ेगा फूल को समझने जाएगा तो तोड़ेगा उसके केमिकल्स में उसके रासायनिक तत्वों में खनिज कितना पानी कितना रसायन कितनी वो तोड़कर विश्लेषण करेगा और बता सकेगा फूल किन किन चीजों का जोड़ है लेकिन कोई कवि इससे राजी न होगा कोई सौंदर्य का प्रेमी इस विश्लेषण को हत्या कहेगा क्योंकि इस तोड़ने में ही फूल नष्ट हो गया और जो हमने जाना वो फूल नहीं है और तोड़कर जो हमें मिला उससे भला फूल बनता हो लेकिन फूल कुछ और ही चीज थी जिन अंगों को काट काट कर हमने फूल को पहचाना उससे हमें ये तो पता चला कि फूल किन चीजों से मिलकर बना था लेकिन फूल क्या था ये बिल्कुल भी पता नहीं चला वरन तोड़ने में ही फूल खो गया तो जब वैज्ञानिक फूल को तोड़कर उसके अलग अलग खंडों में लेबल लगाकर बोतलों में बंद कर दे तब फिर कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा वो सौंदर्य फूल की परिपूर्णता में था उसके पूरे होने में था वो सौंदर्य उसके अंगों में नहीं है उसके जोड़ में था इसे ऐसा समझे किसी ने एक गीत लिखा हो तो गीत को हम उसके शब्दों में तोड़ सकते हैं जो भाषा शास्त्री है अगर उससे कहेंगे कि इस गीत को समझो तो वो शब्दों को तोड़कर अलग अलग रख देगा बता सकेगा कि गीत कैसे बना किन शब्दों के जोर से बना कौन से नियम व्याकरण के काम में आए लेकिन गीत खो जाएगा क्योंकि गीत व्याकरण नहीं और गीत गहरे में समझें तो शब्दों का जोड़ भी नहीं है शब्दों के जोड़ से कुछ ज्यादा है समथिंग प्लस वो जो ज्यादा है वो खो जाता है तो विज्ञान अणु को उपलब्ध हो जाता है सूक्ष्मतम को जान लेता है अंतिम खंड को पहचान लेता है लेकिन अखंड से वंचित हो जाता है परमात्मा से खो जाता है धर्म कहता है सब जुड़कर जो उस जोड़ से अविर्भूत होता है वही प्रभु है वही ईश्वर है ये ज्ञान के दोनों ढंग बड़े भिन्न बड़े विपरीत थे one is to analyze a thing to divide it into its part But parts are not the whole. They constitute the whole, but they are not equivalent to the whole. The whole cannot be created without the parts, but still the whole is something plus, something more than all the parts combined. That something plus is the mystery. Science divides and the knowledge achieved is through analysis. Religion is the quite opposite dimension. Religion believes not in division, but in synthesis. Religion goes on adding, totaling. And when everything is totaled, nothing remains out sight, everything is included. And this whole taken as a whole is looked at, the divine appears. That's why science can never say that there is God. That is impossible. So no one should hope that any day science can say there is God. Because the very process a scientific analysis cannot lead to the total. The very process leads to the part, minutest part, never to the whole, because it depends on division. Science can never come to any divineness in the universe, in the existence. because the divineness is something like a perfume that comes out of the whole. It is not mathematical. It is organic. It is not mechanical. It is alive. You can divide me into parts, then put again all those parts, but I will not be found there. You have put everything again in its place. But I am not a, a mechanical device. I am not just parts accumulated and arranged. Something more is there. More than all the parts. That something is lost. Life can never be known by analysis. Analysis can only know the materials, never the spiritual. These are the two dimensions of knowing. So if someone concludes that there is nothing except matter, that only means that he has used the analytical method, nothing else when someone says there is no matter, but only consciousness, it only shows that he has used the method of synthesis, not analysis. Freud used analysis as a methodology. Then he couldn't conceive that there is any soul, any divine element in man. But another psychologist Esagoli now is using synthesis as a method. And he says, there is no body, but only the spirit, only the consciousness. Whenever someone asserts matter or consciousness, it means a particular method for search has been used. Logic is analysis. a law is synthesis. Uh, that's why religion has always been illogical. And science always loveless. ye do mark hai janne ke विश्लेषण से हम कभी भी पदार्थ के पास नहीं पहुंच पाते नहीं पहुंच सकेंगे नहीं कोई उपाय नहीं है सब आशाएं व्यर्थ हैं कि विज्ञान किसी दिन परमात्मा को घोषित करेगा वैज्ञानिक भला कहने लगे कि परमात्मा है लेकिन वैज्ञानिक का वक्तव्य विज्ञान का वक्तव्य नहीं आइंस्टीन मरते समय अनुभव करने लगा था कोई दिव्य उपस्थिति पर वो वैज्ञानिक का वक्तव्य है विज्ञान का नहीं वो वक्तव्य वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक प्रेम में पड़ जाए किसी के और कहने लगे इस स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई स्त्री जमीन पर नहीं लेकिन ये कोई विज्ञान का वक्तव्य नहीं एक वैज्ञानिक का वक्तव्य है और एक वैज्ञानिक फूल को देखकर आनंदित हो उठे और नाच उठे लेकिन ये नृत्य विज्ञान का नृत्य नहीं ये वैज्ञानिक का नृत्य लेकिन धार्मिक लोग अक्सर ऐसा सोच लेते हैं अगर कभी कोई वैज्ञानिक कह देता है कि हाँ परमात्मा की प्रतीति मालूम पड़ती है कभी कोई एडिंगटन कभी कोई ओलिवर लाज कभी कोई आइंस्टीन अगर कह देता है तो धार्मिक आदमी बड़े जल्दी सोचने लगता है कि विज्ञान भी अब परमात्मा की बात करने जा रहा है बड़ी भूल है ये वक्तव्य निजी है और वैयक्तिक है इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं विज्ञान कभी भी परमात्मा की बात नहीं कह सकेगा क्योंकि विज्ञान जिस विधि का उपयोग करता है वो विधि ही खंड पर ले जाती है वो अखंड पर ले जाती नहीं ये बात दूसरी है कि किसी दिन विज्ञान भी धर्म की विधि का उपयोग करे तो परमात्मा की बात कह सके लेकिन उस दिन वो विज्ञान ही नहीं होगा वो धर्म ही हो जाए ऋषि का उत्तर इस बात से ही शुरू होता है आत्मा ही ईश्वर और आत्मा ही जीव है वो जो मनुष्य के भीतर बोध की क्षमता है चैतन्य है वो जो चिद रूप वो जो मनुष्य के भीतर जानने वाला है ज्ञाता है दृष्टा है वो जो साक्षी है उसे उपनिषद आत्मा कहते हैं लेकिन ये वक्तव्य बहुत अद्भुत है ये वक्तव्य कहता है आत्मा ही ईश्वर कोई ईश्वर इस आत्मा से अतिरिक्त नहीं है संश्लेषण की ये विधि है आत्मा आपके भीतर है और परमात्मा सारे अस्तित्व का नाम है बूढ़ है आपके पास अगर हम वैज्ञानिक से पूछें कि सागर क्या है तो वैज्ञानिक कहेगा बूंदों के जोड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और गलत नहीं कहता अब सागर को बांटने जाए तो बूंदों के सिवाय और क्या हाथ में लगेगा लेकिन निश्चय ही क्या सागर बूंदों का जोड़ ही है बूंद में ना तो कभी तूफान उठते बूंद में कभी लहरें नहीं उठती बूंद का जोड़ ही नहीं है सागर सागर कुछ और भी है बूंद के जोड़ से भी ज्यादा लेकिन विज्ञान कहेगा कहा है वो सागर हम सब बूंदे खींच के निकाल लेते हैं फिर सागर नहीं बसता वो ठीक कहते हैं मेरा हाथ काट ले मेरा पैर काट ले मेरा सिर अलग कर दे मेरी सारे अंगों को अलग कर ले मैं कहा बचता हूं पीछे फिर भी मैं हाथ और पैर के जोड़ से ज्यादा हूं और जब मेरा पैर काटा जा सकता है तब भी मैं इस बोध में स्थिर हो सकता हूं कि मैं नहीं काटा जा रहा हूं और मेरी गर्दन कटती हो तो भी मैं चैतन्य से भरा हो सकता हूँ कि इस गर्दन को दूसरे लोग ही कटता नहीं देख रहे हैं मैं भी कटता हुआ देख रहा हूं मंसूर काटा जा रहा है और हंस रहा है और भीड़ में एक आदमी पूछता है कि मंसूर तुम पागल तो नहीं हो तुम काटे जा रहे हो और हंस रहे हो मंसूर ने कहा पहले मैं पागल था और कांटा भी चुपता था तो रोता था मैं पागल नहीं हूं क्योंकि जिस तरह तुम देख रहे हो कि गर्दन काटी जा रही उसी तरह मैं भी देख रहा हूं कि गर्दन काटी जा रही तुम बाहर से मैं भीतर से हम दोनों ही देखने वाले जैसे तुम दर्शक हो वैसा मैं भी दर्शक हूं ये शरीर तुम बाहर से देखते हो इसे मैं भीतर से देखता हूं अगर हम धार्मिक से पूछें कि बूंद क्या है तो वो कहता है सागर ही वो कहता है सागर ही वैज्ञानिक सागर को बूंद बना देता है धार्मिक बूंद को सागर बना देता है और ये बड़ी क्रांतिकारा क्रांतिकारी फर्क है ये फर्क छोटा नहीं विज्ञान सभी चीजों को उनके क्षुद्रतम हिस्से के साथ जोड़ देता है और धर्म सभी चीजों के उनके श्रेष्ठतम हिस्से के साथ जोड़ देता है ये बात साधारण नहीं है ये केवल शब्दों का खेल नहीं है कि बूंद सागर है कि सागर बूंद है इसमें क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है क्योंकि विज्ञान विश्लेषण करता है विश्लेषण करके जो निम्नतम इकाई उसके पकड़ में आती है उसी को वो समस्त जीवन के आधार को मान लेता है कि यही आधार है आदमी को काटते हैं तो पदार्थ हाथ लगता है हड्डी हाथ लगती है मांस हाथ लगता है आत्मा हाथ नहीं लगती इसलिए विज्ञान कहता है आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं हड्डी मांस मज्जा का जोड़ है सिर्फ जोड़ कुछ और ज्यादा नहीं धर्म कहता है निकृष्ट से श्रेष्ठ को नहीं समझाया जा सकता उल्टा हो सकता है बूंद से सागर को नहीं समझाया जा सकता सागर से बूंद को समझाया जा सकता है श्रेष्ठ से निकृष्ट को समझाया जा सकता है निकृष्ट से श्रेष्ठ को नहीं समझाया जा सकता इसके कारण है इस बात को ठीक से समझने तो उपनिषद की भाषा समझ में आ सकेगी बच्चे से बूढ़े को नहीं समझाया जा सकता लेकिन बूढ़े से बच्चे को समझाया जा सकता है क्योंकि बूढ़ा दोनों रह चुका बच्चा भी और बूढ़ा भी बच्चा अभी सिर्फ बच्चा ही है अभी बूढ़ा हुआ ही नहीं सागर से हम बूंद को भी समझा सकते और सागर को भी लेकिन बूंद से हम सागर को नहीं समझा सकते पदार्थ से हम सिर्फ शरीर को और पदार्थ को ही समझा सकते हैं परमात्मा से हम दोनों को समझा सकते हैं विराट जो है वो क्षुद्र को अपने भीतर समा लेता है लेकिन क्षुद्र विराट को अपने भीतर नहीं समा पाता है तो जितनी विराट की धारणा हो उतने हम सभी को उससे समझा सकते हैं लेकिन क्षुद्र की धारणा से विराट को समझाना असंभव है ऐसा समझे कि विज्ञान सदा ही प्रथम पर ध्यान रखता है और धर्म सदा ही अंतिम पर विज्ञान पहले कदम पर ध्यान रखता है धर्म अंतिम मंजिल पर क्योंकि धर्म कहता है अगर मंजिल नहीं है तो पहला कदम भी नहीं समझाया जा सकता क्योंकि बिना मंजिल के उसे पहला कदम भी कैसे कहिएगा वो पहला कदम भी इसीलिए है कि कोई आखिरी कदम भविष्य में प्रतीक्षा करता है तो मंजिल से हम पहले कदम को समझा सकते हैं लेकिन पहले कदम को ही अगर हम सब कुछ मान लें तो मंजिल तो समझाई ही नहीं जा सकती पहला कदम भी नहीं समझाया जा सकता साध्य से हम साधन को समझा सकते हैं लेकिन साधन से साधन को नहीं तो बूंद सागर को नहीं समझा सकेगी लेकिन सागर बूंद को भी आत्मसात कर लेता है ऋषि कहता है आत्मा ही ईश्वर और आत्मा ही जीव तीन शब्दों का उपयोग है ईश्वर ईश्वर से अर्थ है शुद्धतम चैतन्य प्योर कॉन्सियसनेस फिर आत्मा आत्मा और ईश्वर में क्या फर्क है ऋषि कहता है कोई भी फर्क नहीं उतना ही फर्क है जैसा सागर और बूंद में बूंद भी सागर ही है सब कुछ सागर का उसमें समाया हुआ है एक ही बात ध्यान रखना कि सागर सिर्फ बूंदों का जोड़ नहीं है व्यक्ति के भीतर जब परम चैतन्य निवास करता है तो उसे आत्मा कहा है जैसे सूरज निकला है आकाश में और आपके आंगन में सूरज की किरणें भर गई सूरज की किरणों में और आपके आंगन की किरणों में कोई भी फर्क नहीं फिर भी आपकी आंगन की किरणों की सीमा है आपके मकान की दीवारें आपके आंगन में पड़ती सूरज की किरणों को घेरती सीमा बन जाती है सीमा में ऐसा निवास करता हुआ ईश्वर आत्मा है लेकिन क्या सच में ही जब आपके आंगन में सूरज की किरणें बरसती हैं तो सूरज की किरणों पर कोई सीमा बनती है कि सीमा आपके आंगन की ही होती है सूरज की किरणों पे आपकी दीवाने क्या बाधा बनेंगी सूरज की किरणों को आपकी दीवाने क्या बांध पाएंगी दीवाने आपके आंगन को ही बांधती हैं लेकिन अगर आपके आंगन में पड़ती हुई धूप को ये वहम हो जाए ये भ्रम हो जाए कि मैं भी बन गया तो इसका नाम जीव है शरीर की सीमाओं में जो परमात्मा है उसका नाम आत्मा है लेकिन अगर इस आत्मा को ये भ्रम हो जाए कि मैं यही शरीर हूं तो इसका नाम जीव है अंतर कुछ भी नहीं है चाहे भ्रम हो सूरज की किरण को कि मैं आंगन में बंधी हूं तो भी वो बंधती नहीं किरण बंध ही नहीं सकती न बंधा होना उसका स्वभाव है मुट्ठी बांधिएगा कर्ण भीतर नहीं पकड़ना आएगी न बंधा होना उसका स्वभाव है वो उसकी स्वतंत्रता उसका जीवन है सीमा उस पर नहीं है सीमा आंगन की है लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है वो भ्रम आत्मा को जीव बना देता भ्रम टूट जाए तो आत्मा ईश्वर हो जाती धर्म इतनी विराट व्याख्या में समस्त जीवन को पिरोता है ये जो चिंतन की सरणी है इसे ठीक से ख्याल में ले लेना साधक के लिए बड़ा उपयोगी क्योंकि उसकी भी फिर यात्रा आंगन से आंगन की दीवालों से धूप और धूप से सूरज की तरह है आत्मा ही ईश्वर और जीव रूप है फिर भी जो आत्मा नहीं है ऐसे शरीर में जीव को अहम भाव हो जाता है अहम भाव का अर्थ है तादात्म जो मैं नहीं हूं उसके साथ मुझे ऐसा भाव पैदा हो जाए कि मैं हूं आंगन में आई हुई किरणों को ख्याल हो जाए कि ये आंगन की दीवारें और ये आंगन यही हमारा होना है ऐसी आइडेंटिटी ऐसा में ही अहम भाव है to be identified with something which you are not is the formation of the ego. Ego means to be identified with something you are not. Whatsoever one is needs no identification. You need not be identified with it. You are already whenever there is any identification, it means with something else that you are not. One can be identified with the body, with the mind. But the moment one is identified, one is lost to oneself. This is what ego means. This is how ego is formed and becomes crystallized. Whenever you assert I, there is identification with something, with some name, with some form, with some body, with some past, with mind, with thoughts, with memories there is some deep identification. Only then you can assert I. If you are not identified with anything else and can remain with yourself, then you cannot say I. The I just drops. I means identity. identity is the basis of all slavery. Be identified and you will be in a prison. The very identity will become your prison. Be non-identified, remain totally yourself and then there is freedom. So this is what bondage is. Ego is the bondage and egolessness is the freedom. And this ego is nothing but to be identified with something that you are not. For example, everyone is identified with his name and everyone is born without any name and the name becomes so significant that one can die for his name's sake <laughs> what is a name The moment you are identified, it becomes very meaningful. And everyone is born without any name, nameless. Ah, you take the farm. Everyone is identified with one's own farm. Every day you are standing before your mirror. What you are seeing? Yourself? No. No mirror can mirror you just the form you are identified with But such is the stupidity of human mind that every day the form is changing constantly, but you are never disillusioned. When you were a child, what was the form? when you were in your mother's womb what were the what was the form when you were in your parents seat what was the form can you recognize if a picture is produced before you of the egg in your mother's womb will you be able to recognize this is i No, but you must have been identified with this egg. Somewhere back, you were born, and the the first scream can be reproduced before you. Will you be able to recognize this is my scream? No, but it was yours. And you must have been identified with that. If an album can be produced before a dying man, a constant changing form, there is a continuity, but still every moment a change. The body is changing every seven years completely, totally. Nothing remains the same. Not a single cell. Still, still we, we think, this is my form, this is me. And consciousness is formless and the form is just something outside which goes on changing and changing and changing, just like clothes. This identification is ego. If you are not identified with anything, with name and with form or anything, then where is the ego? then you are and still you are not. Then you are in your absolute purity, but with no ego. That's why Buddha called the self, he called the self no self he called it anatta anatma he said there is no ego so you cannot call yourself atma even you cannot call yourself i there is no i there is pure existence this pure existence is freedom अहम भाव का हो जाना बंधन और अहम भाव का निकल जाना यही मोक्ष इस अहम भाव को जो उत्पन्न करती है वो अविद्या और जिससे ये अहम भाव निकल जाता है वह विद्या कहलाती है इस अहम भाव को जो उत्पन्न करती है वो अविद्या जिस विधि से जिस ढंग से जिस प्रक्रिया से ये अहम भाव निर्मित होता है उसे अविद्या कहा है और जिस विधि से जिस मार्ग से ये अहम भाव छीन होता गलता बिखर जाता विसर जाता है उसे विद्या कहा है हम सब अविद्या में ही जीते क्योंकि हम सिवाय अहंकार निर्मित करने के और कुछ भी तो नहीं करते चाहे हम धन कमाते हो तो भी हम अहंकार निर्मित करने को ही कमाते हैं और चाहे हम ज्ञान इकट्ठा करते हो तो भी हम अहंकार को भरने को ही इकट्ठा करते हैं और चाहे हम पदों की लंबी यात्रा पर निकलते हो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो राजधानियों की तब भी हम सिंहासनों पर पहुंचकर करते क्या है सिंहासनों पर आप प्रतिष्ठित नहीं होते अहंकार ही प्रतिष्ठित होता है राजमुकुट आपके सिर पर नहीं रखे जाते हैं राजमुट आपके अस्मिता आपके अहंकार के सिर पर ही बनते अहंकार के अतिरिक्त हम कुछ भी अर्जन नहीं करते हमारे पूरे जीवन की सारी प्रक्रिया इतनी है कि कैसे मैं कुछ हो जाऊं और कैसे मैं दूसरे दूसरों के मैं को हटाऊं पीछे और आगे खड़ा हो जाऊं एक थोकी दौड़ लेकिन जीवन पर वही चलती है खटोले से लेकर कब्र तक वही चलती है वही दौड़ वही दौड़ ईर्षा की प्रतिस्पर्धा की प्रतियोगिता की क्या है ईर्षा क्या है प्रतिस्पर्धा क्या है प्रतियोगिता किससे है संघर्ष और किस लिए है एक ही आधार है सिर्फ कि मैं पिछड़ ना जाऊं मैं छोटा ना रह जाऊं मैं दीनहीन ना रह जाऊं मेरे ऊपर भी राज मुकुट बंधे मेरे गलों में भी फूल मालाएं हों मेरे मेरे अहंकार में भी हीरे जवाहरात जड़े मैं भी चमकू मैं भी ना कुछ न रह जाऊं कुछ हो जाऊं छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी एक ही दौड़ में और ये दौड़ इतनी अद्भुत है कि कभी कभी ये दौड़ विपरीत भी हो जाती है और फिर भी मूल आधार बना रहता एक आदमी धन कमाए चला जाता है इसलिए कि मैं चोटी पर पहुंच जाऊं गौरी शंकर की धन की चोटी पर फिर एक आदमी धन को लात मार के जंगल चला जाता है तपश्चर्या करता है और तब भी हो सकता है मैं की अकड़ कायम हो और वो आदमी अब धन की जगह तप के सिक्के इकट्ठे कर रहा हो और अब भी अकड़ यही हो कि मेरा जैसा तपस्वी और कोई भी नहीं कहा मैं और कहा ये सारी दुनिया अहंकार ईश्वर की खोज तक से अपने को भर सकता है अहंकार इसलिए भी ईश्वर की चर्चा में पड़ सकता है कि मेरी मुट्ठी में छोटी मोटी बातें नहीं ईश्वर भी है अहंकार के अर्जन की प्रक्रिया अगर अविद्या है तो हम सब अविद्या में जी रहे हैं और जिसे हम विद्या कहते हैं विद्यालय कहते हैं जिन्हें हम विद्यापीठ कहते हैं विश्वविद्यालय कहते हैं अगर ऋषि की बात को समझें तो वो सब अविद्यालय है अविद्या पीठ क्योंकि वहां सिर्फ अहंकार को भरने के अतिरिक्त और तो कोई कला सिखाई नहीं जाती सारी शिक्षा अहंकार को जगाने का प्रयोग है महत्वाकांक्षा एम्बिशन को उठाने की कोशिश है तो बाप बेटे से कह रहा है कि पिछड़ मत जाना अपनी क्लास में नंबर एक आना बाप दुखी होता है लड़का पिछड़ जाता है तो बाप नंबर एक आज लड़का नंबर एक आ जाता है तो बाप भी जैसे नंबर एक आ जाता है दौड़ाना है सबको एक ही खेल है अगर ये अविद्या है तो हमारा सारा जीवन अविद्या है तो विद्या का हमें कोई पता ही नहीं क्योंकि ऋषि कहता है विद्या उस प्रक्रिया का नाम उस विधि का जिससे मैं गलता विसर जाता नहीं बनता और एक घड़ी आती है कि अहंकार नहीं होता केवल आत्मा रह जाती केवल होना रह जाता है उसे धर्म कहें उस विद्या को योग कहें ध्यान कहें प्रार्थना कहें पूजा कहें कोई भी नाम दे हजार नाम दिए गए लेकिन विद्या का सार सूत्र एक ही है घटानी है वो घटना जहां आप तो बच जाएं लेकिन आपा ना बचे जहां चेतना तो बच जाए लेकिन चेतना के बीच में कोई मैं की घोषणा करने वाला केंद्र ना हो किसी भी द्वार से और किसी भी मार्ग से मैं अपने को खो पाऊं खो पाऊं का अर्थ है सो जाऊं नहीं खो पाऊं का अर्थ है विस्मरण हो जाऊं नहीं खो पाऊं का अर्थ है भूल जाऊं अपने को नहीं खो पाऊं का अर्थ है बचू पूरी तरह जागा होश से भरा स्मरण पूर्वक फिर भी मैं ना बचू वही बच जाए जिसके साथ मैं का कोई भी जोड़ नहीं बुद्ध के चरणों में किसी ने आके सिर रखा है एक सुबह कोई संदेहशील व्यक्ति आया है वो भी बैठा है पास में उसने बुद्ध से कहा आप इस व्यक्ति को रोकते नहीं कि आपके चरण ना छुए क्योंकि आपने ही तो हमें समझाया है कि किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं स्वयं को खोजो यह आदमी आपके शरण में आ रहा है आप इसे रोकते नहीं बुद्ध ने कहा अगर मैं होता तो जरूर रोकता यदि मैं होता तो जरूर रोकता और बुद्ध ने कहा अगर मैं होता तो चाहे रोकता और चाहे इसका सिर झुकाता दोनों बराबर थे चाहे इसका सिर पकड़ के चरणों में रखता तो और चाहे इसका सिर रोकता कि नहीं मत छू मेरे पैर दोनों बराबर थे लेकिन जो आदमी झुकाता है इसका सिर और जो आदमी रुकाता है इसका सिर वो अब नहीं है जैसे तुमने देखा किसने सिर झुकाया मैंने भी देखा जरा सी भूल हुई तुमने देखा इसने मुझे सिर झुकाया मैं सोच रहा हूं इसने किसे सिर झुकाया to whom he has bowed down कोई दिखाई तो नहीं पड़ता इसने किसे सिर झुकाया ऐसी घड़ी जिस द्वार से आती है उसे ऋषि विद्या कहते हैं This term अविद्या really cannot be translated. It is not synonymous with ignorance. It is not ignorance. because ignorance is just negative you don't know something you are ignorant but this avidya is not something negative it is very positive it is not that you don't know something it is rather on the contrary that you know something which is not this avidya is rather a positive projection of something which is not. The I is not, the ego is the most non-existential thing in the world. Looks very substantial. And is absolutely empty. Avidya means the projective force in you of this ego, of this identified image of yourself. Avidya is a projective force within you. It is not just ignorance. It is not that you don't know something. It is that you can create something which is not. You can dream something which is not. You can project something which is not. When the mind is projecting something which is not, it is avidya. When this mind destroys all projections, all identifications, remains without any projective activity, then this method of destroying all projections, all that is not but appears to be, is called vidya. Vidya is not knowledge. Again, vidya is a positive force to destroy all that which avidya creates. Vidya is again untranslatable. Vidya means a positive force in you which can destroy ego formation. Both are positive. Avidya uh, creates that which is not and Vidya destroys that which is not. so vidya means yoga vidya means the science of religion ये जो विज्ञान है धर्म का उसे ही मैं ध्यान कह रहा हूं जब भी आपसे कहता हूं ध्यान तो मैं इसी विद्या की बात कर रहा हूं हम सब जीते हैं गैर ध्यान में हम ऐसे जीते हैं जैसे सोए सोए कभी आपने अगर किसी व्यक्ति को हिप्नोसिस में सम्मोहन में देखा हो चलते हुए या कभी आपने किसी व्यक्ति को निद्रा में चलते हुए देखा हो किसी सोमनबुलिस्ट को बहुत लोग रात नींद में उठते हैं और चलते हैं आप में भी यहाँ बहुत लोग होंगे क्योंकि सौ में से कम से कम सात लोग नींद में चल सकते हैं कम से कम सात पर उसको पता भी नहीं चलता क्योंकि चल फिर के वापस सो जाता है आंखें खोल के चल लेता है लोगों ने हत्याएं तक की हैं नींद में चल के और सुबह उनको बिल्कुल पता नहीं है वो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई सपना देखा रात कि किसी की हत्या की लोगों ने चोरियां की और जरा भी वे कसूरवार नहीं थे क्योंकि वो सब नींद में हुआ लेकिन ये तो कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो नींद में चलते हैं अगर हम अपनी तरफ बहुत गौर से देखें तो हम सभी थोड़ी ना बहुत नींद में चलते हैं आप जो कर रहे होते हैं उस पर आपका कहा होता है ध्यान ध्यान तो कहीं और होता है राह पर चलते हैं आप तब चलने में आपका ध्यान होता है चलने को छोड़ के और कहीं भी होता होगा जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन करने में ध्यान होता है भोजन को छोड़कर और कहीं भी होता होगा हाँ भोजन पे भी कभी कभी होता है लेकिन वो तब होता है जब भोजन नहीं कर रहे होते जहां होते हैं आप वहां ध्यान नहीं होता तो वहां क्या होता होगा जहां आप होते हैं जब ध्यान नहीं होता वहां नींद होती उसी नीम में सब उपद्रव होते हैं जब आपने किसी पर क्रोध किया है तो आपने ख्याल किया कि आपका ध्यान वहां था क्योंकि ध्यान होता तो क्रोध करना असंभव है ध्यान और क्रोध का कोई मेल ही नहीं बैठता ध्यान हो तो क्रोध हो नहीं सकता क्रोध के होने के लिए नींद जरूरी है नशा जरूरी है इसलिए तो आदमी क्रोध के बाद पछताता है कहता है कि कैसे मैंने किया और क्यों किया क्या सार था इसी ने किया है और ऐसा भी नहीं कि पहली दफे किया है और ऐसा भी नहीं कि पहली दफे पछता रहा है बहुत दफे ऐसे ही पछताया ऐसे ही क्रोध किया है और हर बार यही सोचा क्यों किया क्या सार था फिर किया क्यों अगर सार नहीं था ये आदमी मौजूद ही नहीं था ये तो जब क्रोध चला गया तब ये वापस आए घर ये थे नहीं तब हो गया जब लौटे तो पछता रहे हैं लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं अब कोई भी अर्थ नहीं है अब कोई भी सार नहीं है कुछ चीजें ध्यान में हो ही नहीं सकती असल में जिसे पाप कहा है जानने वालों ने उसे ही पाप कहा है जो ध्यान पूर्वक नहीं हो सकता पाप की यही परिभाषा है कि जो ध्यान पूर्वक न हो सके वो पाप है और जो ध्यान पूर्वक हो सके वो पुण्य ध्यान पूर्वक चोरी नहीं हो सकती और ध्यान पूर्वक हत्या नहीं की जा सकती और ध्यान पूर्वक क्रोध नहीं हो सकता लेकिन ध्यान पूर्वक करुणा हो सकती है और ध्यान पूर्वक प्रेम हो सकता है और ध्यान पूर्वक हम्म। जो भी हो सकता है वो सब धर्म है और पुण्य है जो ध्यान पूर्वक हो ही ना सके जिसके लिए नींद अनिवार्य तत्व हो जो नींद में ही फल सकता हो वही पाप है तो ध्यान में हम जीते नहीं कभी कभी ध्यान करने बैठते हैं तो वहां भी नींद आती है वहां भी बल्कि और जोर से आती है उसका कारण है कि उसका हमें कोई ख्याल ही नहीं कोई अनुभव ही नहीं है जिस ढंग से हम चलते उठते बैठते उस सब के हम अभ्यासी हैं वो नींद में हो जाता मैंने कहा कि हम सब कुछ नींद में कर रहे हैं अभी मैं एक व्यक्ति का जीवन पढ़ रहा था उसे हकलाने की आदत थी लाख उपाय किए हकलाना ना गया मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषण किया वर्षों हजारों डॉलर उसकी चिकित्सा पर खर्च हुए बड़े आदमी का लड़का था कोई रास्ता ना निकला दवाएं चली सब हुआ लेकिन नहीं हकलाना बंद नहीं हुआ और एक मजेदार घटना घटी गांव में एक नाटक चल रहा था और उस नाटक में एक हकलाने वाले पात्र की जरूरत थी और जो पात्र अभ्यासी था सदा का जो पाठ करता था वो बीमार पड़ गया था वो मंच पर आ नहीं सकता था तो किसी ने खबर दी कि गांव में फला फला आदमी का लड़का जितनी कुशलता से हकलाता है कोई क्या हकलाएगा उससे प्रार्थना कर ली जाए थोड़ा ही पाठ है और तत्काल मौजूद है सिखाना बहुत मुश्किल मामला है हकलाने वाले युवक को लाया गया और चमत्कारों का चमत्कार हुआ कि उस दिन वो नाटक के मंच पर ना हकला सका बहुत कोशिश की उसने लेकिन हकलाना था कि आया ही नहीं क्या हो गया for the first time he tried attentively to do it and you cannot stutter attentively मैं एक गांव में था एक युवक विश्वविद्यालय का मेरे पास आया उसे एक अजीब सी आदत पड़ गई है स्त्रियों जैसा चलने की तो बहुत उपाय हो गए लेकिन वो जाता नहीं कभी भी वक्त बेवक्त सड़क पर अचानक वो पाता है कोई स्त्रियों जैसा चल रहा है स्त्रियों जैसा चलने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि स्त्रियों चलती ही है लेकिन वो मुश्किल में पड़ गया है भी दीन और हीन हो गया है असल में स्त्री और पुरुषों के मांस का विभाजन शरीर में अलग अलग है और स्त्रियां कुछ स्थानों पर चर्बी इकट्ठी करती हैं जहां पुरुष चर्बी इकट्ठी नहीं करते इसलिए उसकी चाल में फर्क स्वाभाविक है चर्बी का भेद है पर उसकी चर्बी में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो स्त्रियों जैसा चले क्योंकि कभी कभी वो पुरुषों जैसा चलता ही है और कभी कभी एकदम बस स्त्रियों जैसा चलने लगता है तो बड़ी मुसीबत में था मैंने उससे कहा तू एक काम कर तू अब जान के स्त्रियों जैसा चलने लग उसने कहा क्या कहते हैं आप बिना जाने इस मुसीबत में पड़ा हूं और जान के चलने लगू मैं तो जान के रोकने की कोशिश करता हूँ दिन रात जब भी चूक जाता हूँ बस चल जाता हूँ मैंने कहा कि तूने जान के कोशिश कर ली रोकने की नहीं रोक पाया अब मैं तुझसे कहता हूँ तू जान के चलने की कोशिश कर उठ और मेरे सामने चल के बता दे उसने बहुत कोशिश की वो न चल पाया उसने कहा पता नहीं क्या हो गया आज आपने कुछ चमत्कार किया ये तू किसी और को मत बताना हाथ मेरा इसमें जरा भी नहीं तू ही चमत्कार कर रहा है तुझे पता नहीं इस चमत्कार का कुछ चीजें जान के की ही नहीं जा सकती होश पूर्वक नहीं की जा सकती कुछ चीजें बस होश के साथ ही टूट जाती ध्यान विधि है विद्या की अहंकार भी होश पूर्वक नहीं किया जा सकता अहंकार होश पूर्वक करके देखें तो आपको पता चलेगा गुरुजी अपने साधकों के साथ एक खेल खेला करता था वो अपने साधकों को ऐसी हालत में ला देता था कि उन्हें ख्याल ही ना रहे कि वो वो क्रोध में भरे जा रहे कुछ ऐसी बात कर देता कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देता कि किसी साधक को चिड़ पैदा हो जाए परेशान हो जाए चिल्लाने लगे गालियां बकने लगे आग बबूला हो जाए और ये सब आयोजित होता है और इसमें सब सहयोगी होते ये खेल होता सिर्फ उस आदमी को भर पता नहीं होता कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और जब वो अपने पूरे तूफान में आ जाता अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने के करीब हो जाता और गालियां बकने लगता तब गुरुजी कहता कि होश इस वक्त हौसला कि तू क्या कर रहा है और वो आदमी एकदम भीतर सब खो गया और चारों तरफ वो देख के हंसने लगता वो कहता कि हद कर दी तो ये सब खेल था वो अहंकार को जगाने की कोशिश करता और जब जग जाता किसी का अहंकार तब वो एन वक्त तो उसको जोर से आवाज दे देता कि इस वक्त देख भीतर में है और वो आदमी जो आग बबूला हो रहा था अहंकार से वो आंख बंद करके भीतर देखता शांत हो जाता आंख खोल के कहता कि नहीं भीतर खोजता हूँ बिल्कुल नहीं फिर ये क्या था जो इतना तूफान मचा रहा था ना कुछ से भी बड़े तूफान उठ जाते प्यालियों में तूफान उठ जाते ना कुछ से बड़े तूफान उठ जाते विद्या प्रयोग है इस बात का कि हमारे भीतर जो हमने व्यर्थ के झूठे आकार निर्मित कर लिए हैं उन्हें हम कैसे गिरा दें बहुत विधियां हैं विद्या की कुछ विधियों पर हम यहां प्रयोग कर रहे हैं आज रात की विधि पर थोड़ी बात आपको समझा दूं और कल के प्रयोगों के लिए थोड़ी बात आपको समझा दूं फिर हम रात के ध्यान में उतरे रात की जो विधि है जिसे हम अभी करने जाने वाले हैं उस विधि में 30 मिनट तक मेरी तरफ आपको एक तक बिना पलक छपाए देखना है जितनी आंख खोल के आप मेरी तरफ देख सके आंख के द्वारा आपको मुझसे संबंधित हो जाना है आंख द्वार है तो आपको अपनी चेतना आंख से मेरे तक ले आनी मुझ तक फैला देनी इतनी अगर फैल सके तो फिर कितनी ही फैल सकती है इसकी बहुत फिक्र ना करें इतना अगर हो जाए कि मुझ तक आ जाए तो आकाश तक ले जाने में कठिनाई नहीं होगी तो 30 मिनट आंख को झपकाना ही नहीं है आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है जरा भी मुश्किल नहीं है आपको पता नहीं रहता फिल्म में आप बैठे रहते और घंटों आंख नहीं झपकती इसलिए तो आंख थक जाती आपको ख्याल ही नहीं रहता और आंख नहीं झपकती इसलिए आंख थक जाती जब भी आप कोई चीज गौर से देख रहे होते हैं आंख का झपकना बंद हो जाता है कोई अड़चन नहीं है अड़चन मन की बनाई हुई है क्योंकि जैसे ही आपका मन को पता चलेगा कि ये तो खतरा हुआ जा रहा है ये तो मेरी अविद्या टूटने का मौका आ गया ये तो सारा जाल गिर जाएगा अगर ये छलांग एक लग गई तो मिटा वैसे ही मन कहेगा आंख बिल्कुल थकी जा रही पागल हो गए हो बंद करो झपकाओ वो सब मन की तरकीबें हैं उनसे सावधान होना जरूरी कोई फिक्र नहीं आंसू आएंगे तो अच्छा ही है थोड़ी आंखें साफ ही हो जाएंगी थोड़े आंसू हल्के हो जाएंगे कोई फिक्र ना करे तीस मिनट आंख नहीं झपकानी एक प्रयोग खड़े होकर होगा आंख नहीं झपकानी है बिल्कुल मेरी तरफ एक तक देखते रहना है दोनों हाथ आकाश की तरफ ऊपर रखने हैं क्योंकि पूरी चेष्टा यह है कि जो चेतना मेरी तरफ आपकी आ रही है उसे किसी भी क्षण आकाश की तरफ गतिमान करना है तो दोनों हाथ आकाश की तरफ उठे हुए रखने हैं एक तक मेरी तरफ देखना है नाचते रहना है कूदते रहना है और साथ में हु हु हु की जोर से आवाज करते रहना है ये हु एक मंत्र की तरह प्रयोग किया जा रहा है इस हु के चोट से आपके भीतर जैसे कुंडलनी कहे उस पर चोट पड़ती जब आप हु जोर से कहते हैं तो आपको ख्याल में आएगा कि ये चोट ठीक आपके काम केंद्र पर पहुंच जाती ठीक मूलाधार पर पहुंच जाती तो 30 मिनट एक तक आंख मेरी तरफ चेतना मेरी तरफ दौड़ती हुई हु की आवाज आपकी कुंडलनी पर चोट करती हुई हाथ आकाश की तरफ यात्रा को पथ पर और आप नाचते हुए क्योंकि वो जो आपका नाचना है उस नाचने में चोट तीव्रता से पड़ेगी और भीतर से ऊर्जा उठनी शुरू होगी और आपकी रीढ़ से ऊपर की यात्रा पर निकलने लगेगी इस बीच में चुप ही रहूंगा लेकिन कभी कभी दोनों हाथ से इशारे करूंगा आपको ऊपर की तरफ जाने के जब मैं ये हाथ का इशारा करूं तो आपको अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है नाचने में हंकार करने में आंखें फाड़ कर देखने में आपको बिल्कुल पागल हो जाना है जितनी शक्ति आपके भीतर हो लगा देनी है और उछलते जाना है जब मैं हाथ बिल्कुल ऊपर ले जाऊं और रोक लू तो आपको पूरी ताकत लगा देनी ऐसा मैं 10-25 बार आपको नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए इशारे करूंगा उस वक्त आप जरा भी कंजूसी ना करें कृपण ना हो पूरी शक्ति लगा दें और जब मुझे अभी बैठे रहे अभी बैठे रहे पूरी बात समझ लें और जब मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी रीढ़ में दौड़ने लगी ऊर्जा और आपका शरीर एक नाचता हुआ शक्ति का प्रवाह हो गया तब जब मुझे लगेगा कि बहुत लोग नाच के उस जगह आ गए जहां उनका परम मिलन परमात्मा की शक्ति से भी हो सकता है तो मैं अपने हाथों को उल्टा दूंगा जब मैं हाथ उल्टाऊं तब आपको और अपने भीतर खोज कर लेनी है कि थोड़ी बहुत शक्ति बची हो तो वो भी लगा दे और मैं हाथों को नीचे की तरफ लाऊंगा ये इशारा आपके लिए ही होगा कि अगर इस क्षण आप अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाते हैं तो ऊपर से परमात्मा की शक्ति भी आपके भीतर उतर सकती है और जहाँ इन दोनों का मिलन होता है वही आनंद है और जहाँ इन दोनों का मिलन होता है वही विद्या फलित हो जाती है जहाँ व्यक्ति की चेतना का मिलन शरीर से हो जाता है वही अविद्या हो जाती है अहंकार जन्म ले लेता है और जहाँ व्यक्ति की चेतना का मिलन परमात्म चेतना से हो जाता है वही विद्या फलित हो जाती है और व्यक्ति अहंकार अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जहाँ चेतना शरीर से जुड़ती है वहाँ जीव निर्मित हो जाता है और जहाँ चेतना परमात्मा से मिलती है वहाँ आत्मा निर्मित हो जाती है तो ये तो रात का प्रयोग This night meditation is going to be a constant staring at me for 30 minutes without blinking the eyes. Just go on staring at me for 30 minutes. Feel your eyes just as doors. And from those doors your consciousness is coming towards me. Go on feeling that your consciousness is coming towards me. And don't blink the eyes. Go on constantly staring for 30 minutes. This constant staring creates a very deep mutation of the bioenergy, of the kundalini of the coiled energy, the serpent power. For 30 minutes, go on jumping. Your hands will be raised towards the sky as if you are just to fly towards the divine. So your hands will be raised, your eyes will be staring at me, and you will have to jump and go on using a mantra, the mantra of who. This who is not a word. This is a meaningless sound. This who is to be used just as a hammering inside on the coiled energy so that it uncoils and the serpent within begins to move upwards. You will begin to feel a subtle flow of energy in your spine. The energy will be going up and up You will become weightless. For 30 minutes, constantly using the mantra who, who, who, forcefully, jumping, staring at me. Then after 30 minutes, I will tell you to stop and just lie down dead for 10 minutes. This is the night experiment. दो तीन सूचनाएं और आज तो आज के प्रयोग में मैंने थोड़ा सा आप थोड़े अभ्यस्त हो जाएं इसलिए बहुत ताकत आपसे नहीं लगवाई और प्रयोग को थोड़ा उदार रखा था कल से प्रयोग गहरा होगा तो कल से जो प्रयोग की व्यवस्था पूरे के, कैंप में चलेगी शिविर में वो आपको समझा दू सुबह हमने आज जो प्रयोग किया था वो हम दोपहर को करेंगे चार से पांच सुबह हमने जो प्रयोग किया था वो हम दोपहर करेंगे चार से पांच कीर्तन पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट नृत्य और तीस मिनट विश्राम सुबह हम कल से दूसरा प्रयोग शुरू करेंगे दस मिनट तीव्र श्वास दस मिनट नृत्य चीखना चिल्लाना हंसना शरीर की सारी शक्तियों को बाहर उलिछ देना दस मिनट हु के मंत्र का प्रयोग जैसा रात करेंगे ऐसा और फिर तीस मिनट विश्राम सुबह ये प्रयोग होगा सुबह वाला जो हमने आज किया वो दोपहर होगा और रात जैसा हम प्रयोग करते हैं वो रात जारी रहेगा tomorrow morning will do a new meditation whatsoever we did this morning today that meditation will be done in the afternoon kirtan meditation will be done in the afternoon in instead of silent meditation And in the morning we will be doing a meditation of four steps. The first step, 10 minutes fast breathing. So fast that your body becomes just oxidized energy. Then for 10 minutes a catharsis. Whatsoever happens inside you just throw it out. Go on dancing, crying, making noise, laughing, weeping, whatsoever. Whatsoever you feel, just be free to express it. And then th in the third step, 10 minutes, the mantra who will be used. And then in the fourth step for 30 minutes, total rest as if you have died. So this will be the morning meditation tomorrow. And today's morning meditation will be used in the afternoon meditation 4 to 5. And in the night, this meditation which we are going to do will be continued for the whole time of the camp. So now, we will begin the night meditation.